एक्ट्रेस समंता के साथ ही उस कुक को भी अब इंटरोगेट करने के लिए विक्रांत के ऑफिस में लाया जा चुका था समंता के लंबे बाल और बड़ी बड़ी और खूबसूरत काली आंखें इस वक्त भी उसे काफी खूबसूरत बना रही थी उसके साथ जो इंसिडेंट बीच पर हुआ था उसमें समंता मेंटल रूप से काफी प्रभावित हुई थी अभी भी वो आधे सदमे में ही थी और नॉर्मल नहीं हो सकी थी उसने अभी तक वो ही ड्रेस पहन रखा था जो कि उसने उस वक्त भी पहना था जब उसके ऊपर हमला हुआ था ऐसे में उसके कपड़े इस वक्त काफी अव्यवस्थित और गंदे नजर आ रहे थे लेकिन चूंकि समंता अभी यंग थी और उसका बॉडी फिगर भी काफी अच्छा था ऐसे में गंदे कपड़ों में भी वो किसी हुस्न की परी से कम नहीं लग रही थी उसे देखते ही विक्रांत को फील हो गया था कि ये वो लड़की नहीं है जिसके बाथरूम में कैमरामैन ने हिडन कैमरा सेट किया हुआ था वही कुक बहादुर की हालत तो और ज्यादा खराब थी उसकी उम्र तकरीबन इक्यावन साल थी सिर के बाल आधे से ज्यादा झड़े हुए थे चेहरे पर अजीब से डर का शिकन देखा जा सकता था अब ये कहना थोड़ा मुश्किल था कि उसके चेहरे पर इसका खौफनुमा एहसास हमेशा देखने को मिलता है या फिर इस वक्त वो खुद के साथ हुई तत्कालिक घटना से द्रवित नजर आ रहा था खैर कुछ भी हो अभी बस इतना है कि बहादुर इस वक्त काफी घबराया हुआ था शायद पिछली रात की घटना का खौफ अभी तक उसके जहन से निकल नहीं पाया था उसने भी अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले थे या फिर यूं कह सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई के बीच अभी तक उसे कपड़े बदलने का मौका ही नहीं मिला था बहादुर ने इस वक्त नॉर्मल शर्ट पैंट ही पहन रखा था लेकिन जब किसी इंसान को जमीन के भीतर गाड़ कर उसके चारों तरफ आग लगा दी जाती है तो फिर ना तो वो नॉर्मल रह सकता है और ना ही उसके कपड़े बहादुर गंभीर सदमे में था उससे जब कोई सवाल किया जाता था तो वो कुछ देर तक तो शांत होकर बस सवाल करने वाले का मुंह ताकता रहता और फिर जवाब में सिर्फ हाँ हूँ ही कर पाता था क्योंकि अभी ये दोनों पुलिस की नजरों में विक्टिम और सस्पेक्ट दोनों ही हैं ऐसे में पुलिस ने इन्हें हथकड़ी तक नहीं पहनाई थी बस पुलिस लगातार इन पर कड़ी नजर रखे हुई थी इन दोनों को लाकर सोफे पर बैठा दिया गया इंटेरोगेशन शुरू होने से पहले इन्हें पुलिस की तरफ से गर्म चाय दी गई अभी विक्रांत इंटेरोगेशन शुरू करने ही वाला था कि अनुष्का ने उसके कान में आकर आते हुए कहा सर ये समन्ता की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है उसके साथ कोई फिजिकल असोल्ट नहीं हुआ है बहादुर की भी बॉडी पर इंजरी का कोई खास निशान नहीं मिला है इन लोगों के पास से कोई संदिग्ध मटेरियल भी नहीं मिला है और पुलिस ने इन लोगों के मोबाइल फोन को भी चेक किया है उसमें भी कुछ नहीं था अनुष्का की ये रिपोर्ट सुनकर विक्रांत को थोड़ी हैरत हुई आखिर कातिल ने इन दोनों विक्टिम के पास कोई क्लू क्यों नहीं छोड़ा इसके पीछे क्या वजह हो सकती है विक्रांत काफी कंफ्यूज था वो इस बारे में अभी सोच विचार कर ही रहा था कि हर्षित ने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर उन सभी एविडेंस को दिखाना शुरू किया जो कि उन्हें विक्टिम्स के मोबाइल फोन में मिला था अनुष्का ने सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए उन दोनों सर्वाइवर को बताया कि ये सभी चीजें मर्डरर ने क्लू के रूप में छोड़ी हैं ये सब बताते हुए उसने दोनों सर्वाइवर से इसके बारे में जानने की कोशिश शुरू कर दिया एक्ट्रेस समंता ने जैसे ही इन सब फोटोज को देखा तो तुरंत ही एक्साइटेड होकर खड़ी होगी उसने स्क्रीन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा सर मैं इस फोटो को पहचान रही हूँ ये एक तमिल फिल्म का सीन है ये जो एक्टर है इसका नाम दयाकर है पूरा नाम कुछ और है लेकिन ज्यादातर लोग इसे प्रसाद के नाम से ही जानते हैं साइड एक्टर है इस फिल्म में भी ये साइड एक्टर ही है जैसे समंता ने इसके बारे में बताया तुरंत ही हर्षित ने इस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना शुरू कर दिया उसने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए कहा यह किसी लो बजट की मूवी का सीन है इसे स्टार पिक्चर्स नाम की प्रोडक्शन कंपनी ने बनाया था फिल्म के कास्ट की लिस्ट में दया का नाम लिख कर आ रहा है विक्रांत ने उस फोटो में दिख रही लड़की की तरफ इशारा करते हुए समंता से सवाल किया ये तुम हो क्या नहीं मैं फिल्म के कास्ट में नहीं थी उस टाइम मैं तो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं आई थी समन्ता ने विक्रांत को बताया उसने फिर थोड़ा नर्वस होते हुए कहा मैं तो इस एक्ट्रेस को भी नहीं जानती हाँ बस मेरे एक दो फ्रेंड थे उस क्रू में समन्ता ने देखा कि वहाँ काफी लोग मौजूद थे लेकिन उनमें से सबसे सीनियर विक्रांत दिख रहा था ऐसे में उसने विक्रांत के थोड़े करीब जाकर कहा सर मुझे एक सिगरेट मिल जाएगा क्या नहीं विक्रांत ने सीधे मना कर दिया और फिर वहां पर खड़े पुलिस वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा कॉफी ले आओ अभी इंटेरोगेशन बहुत लंबी चलने वाली है कॉफी पिलाओ इसका दिमाग खुलेगा अभी हमें बहुत बात करनी है नहीं चाहिए मैं सुबह से बहुत कॉफी पी चुकी हूँ अब नहीं चाहिए समंता ने विक्रांत की तरफ देखते हुए थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा विक्रांत के पास फालतू की बातें करने का ज्यादा टाइम नहीं था सो उसने समंता को केस के बारे में डिटेल देते हुए कहा मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा से तुम्हें केस के बारे में डिटेल देने की जरूरत है तुम्हारे फिल्म क्रू में से कुल दस लोग थे जिसमें से छह लोगों को मर्डर हो चुका है लोग सीरियस इंजर्ड हैं, एक मेंबर गायब है और बाकी के बचे दो तुम लोग हो कहने का मतलब जब सही सलामत सिर्फ तुम लोग ही बचे हो मामला साफ है तुम लोग ही इस वक्त सबसे बड़े सस्पेक्ट हो नहीं मैं नहीं मुझे कुछ पता नहीं सच में कुक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हम सब लोग साथ में काम करते थे भला मैं अपने ही साथियों को क्यों मारूंगा कुक की बात सुनकर समंता को भी जोश आ गया उसने आंखों में आंसू भरते हुए विक्रांत से कहा आपको हमारी फीलिंग के बारे में कुछ अंदाजा भी है हम लोग किसी तरह से जिंदा बचे हैं आपको पता भी है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है आप ऐसा इल्जाम हम पर कैसे लगा सकते हैं समंता आराम से आराम से अनुष्का ने समंता को नॉर्मल करते हुए कहा तुम हमारी भी सिचुएशन समझने की कोशिश करो हम लोग बस केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये केस अपने लिए नहीं बल्कि खुद तुम्हारे लिए और मतलब तुम सबके लिए सॉल्व करना चाहते हैं अब बताओ तुम लोग नहीं चाहते क्या कि हम मर्डर को पकड़े तुम लोग नहीं चाहते कि कातिल को उसके जुर्म की सजा मिले नहीं मैं नहीं चाहती समंता ने चिल्लाते हुए कहा समन्ता के इन शब्दों को सुनकर सभी काफी शॉक्ड रह गए किसी को उम्मीद नहीं थी कि समन्ता अचानक से ऐसा कुछ बोल सकती है मैं बता रही हूँ ये जितने लोग थे ना ये सब इसी के लायक थे इनको जीने का हक नहीं था अच्छा हुआ इनका मर्डर हो गया समंता की बात सुनकर विक्रांत समेत बाकी के लोग भी एक दूसरे का मुंह हैरत भरी नजरों से देखने लगे जबकि कुक बहादुर अपना सिर नीचे करके बैठ गया उसने एक शब्द भी नहीं कहा समंता तुम्हारा मतलब क्या है विक्रांत को कुछ समझ आ रहा था सो उसने समंता के मुंह से सुनने की इच्छा जाहिर कर दिया मेरा मतलब क्या है मैं बताती हूँ कि मेरा मतलब क्या है आपको शायद पता नहीं है कि वो लोग किस तरह के आदमी हैं लेकिन अब क्या अब क्या ही फर्क पड़ता है अब तो वो सब मर ही चुके हैं समंता ने जवाब दिया फिर समंता ने स्क्रीन पर नजर आ रहे फोटो की तरफ देखते हुए कहा मैं सबसे पहले इसका बताती हूँ ये कमीना दया कर बहुत गंदा बहुत घटिया आदमी था ये अपना सिर हिलाते हुए उस फोटोज की तरफ इशारा करते हुए कहा ये कमीना चेहरे से जितना शरीफ और सीधा साधा दिखता है ना उतना है नहीं इसने अपने चेहरे के दम पर बहुत सी लड़कियों का मिस यूज किया है अमीर घरों की लड़कियों को फंसाकर पहले उनसे शादी करता था और फिर उनके पैसे से फिल्में प्रोड्यूस करवाता था ताकि सारी फिल्म से सभी मेन कैरेक्टर का रोल इसे ही मिले बात करने की भी तमीज नहीं थी इस कमीने को जो मॉडल्स होती हैं या कम एज की एक्ट्रेस होती हैं उन्हें अपने प्यार के चंगुल में फंसाकर उनके साथ भी गलत काम करता था उसने अपना सिर हिलाते हुए आगे कहा सबसे गंदी आदत तो इसकी ये थी कि जब किसी एक्ट्रेस के साथ इसका बेडरूम सीन शूट होता था तब ये बहुत फायदा उठाता था सबको यह लगता था कि शूटिंग हो रही है लेकिन ये कमीना अपनी हरकत करता रहता था बेचारी जो एक्ट्रेस होती थी वो भी मजबूरी में कुछ कह भी नहीं पाती थी समंता ने आगे विक्रांत की आंखों में देखते हुए कहा ये इतना चलाक था कि हमेशा जो नई एक्ट्रेस होती थी उन्हीं को अपने फिल्म में शामिल करता था ताकि ये उनका मिस करे और वो कुछ बोल भी ना पाए जो नई एक्ट्रेस होती थी वो बस काम और पैसे के लालच में ये सब सहती रहती थी और वो ये भी जानती थी कि इसके विरोध में कुछ बोलने पर उसे फिल्म से बाहर कर दिया जाएगा और फिर आगे भी उन्हें जल्दी किसी फिल्म में काम नहीं मिलेगा स्क्रीन पर फोटो दिखाते हुए हर्षित ने कहा ओह इसका मतलब कातिल ने जो विक्टिम के फोन में इसकी ये फोटो छोड़ी थी इससे उसका मकसद दया करके सच्चाई को सामने लाना था